अनादि अविद्या से भेद बुद्धि तो होती है और तार्किक लोग भी युक्ति से तर्क करके दिखाते हैं आत्मा भिन्न भिन्न है किंतु वह हेतु जो देते हैं हेतु में व्यभिचार है हेतु सद हेतु नहीं है व्यावहारिक भेद सिद्ध करेंगे पारमार्थिक भेद सिद्ध करने के लिए हेतु में व्यभिचार है कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा पारमार्थिक भेद के लिए और जहाँ हेतु रहेगा वहाँ भेद सिद्ध होगा सुख दुख आदि विरुद्ध धर्म जहाँ रहेगा वहाँ भेद सिद्ध हो आत्मा में भेद सिद्ध नहीं होगा शब्द के भेद भिन्न भिन्न होने पर भी आकाश तो भिन्न नहीं होता है शब्द का आश्रय होते हुए भी तो इसी प्रकार यहाँ सुख दुख आदि अंतकरण में अंतकरण का भेद हो जाए आत्मा में तो है ही नहीं सुख दुख आत्मा भेद साधक नहीं होगा वो जीव चिदाभास वाच्यार्थ होता है बिंब रूप चेतन एक है सारे भूत का अंतरात्मा एक ही है बिंब रूप चेतन उसी का प्रतिबिंब सबके अंतकण में होने से उसमें भ्रांति होती उसमें सुख दुख आदि है प्रतिबिंबों का भेद है वस्तुतः बिंब रूप चेतन एक है वो दुख दुख साधन उसमें नहीं आपत्ति हुई थी यदि परमात्मा जीव से अभिन्न है सारे जीव के सुख दुख परमात्मा में हो जाए तो क्या जीव में वास्तव जीवात्मा में भी सुख दुख है ही नहीं अंतकण में सुख दुख है प्रतिबिंब में आरोपित तो होता है जैसे जल का कंपन चंद्र के प्रतिबिंब में दिखता है कहते हैं चंद्र हिल रहा है घड़ा में घड़े में जो चंद्र दिखता है वो तो चंद्र ही नहीं प्रतिबिंब उसमें कंपन आरोपित करते चंद्र बिंब रूप चंद्र स्थिर होते हुए आकाश में इसी प्रकार आत्मा जो शुद्ध से आत्मा है उसमें सुख दुख का संबंध नहीं है जो जीव सुख दुख कहते वो भी अंतकण में है आरोपित तो होता है प्रतिबिंब में चिदावास में इसी प्रकार यहाँ श्रुति स्वयं दिखाती है भेद वास्तव नहीं है विभिन्न प्रकार दृष्टांत से यही श्रुति दिखाती भेद औपाधिक है वास्तव भेद सिद्धि के लिए कोई हेतु तो नहीं है एकादश मंत्र हो गया था अच्छा न तदुसे तेषाम लेपो विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्यते रज्जु आदि में कोई सर्प आदि की भ्रांति होती है किंतु उनका संबंध उसमें नहीं है इसी तथा आत्मनि सर्वलोक क्रियाकारक फलात्मक विज्ञान सर्पादि विपरीत मध्यस्य तन्निमित्तं जन्म मरणादि दुःखम अनुभवति न तो आत्मा सर्वलोकात्मा अपि सन् विपरीत अध्यारोप निमित्तेन लिप्यते लोक दुखेन कुतः बाह्य आत्मने सर्वो लोक सारे क्या करते हैं और आरोप करते हैं क्रिया कारक फलात्मक विज्ञानम सर्पादि स्थानीयम विपरीतम अध्यस्य अभ्यास करके आरोप करके आत्मा निष्क्रिय है क्रिया नहीं है जिसमें क्रिया नहीं हो कोई क्रिया का जनक होता है कारक क्रिया करोति क्रिया संपादित कारक क्रिया का आश्रय नहीं क्रिया का जनक नहीं इसलिए कारक भी कुछ नहीं है कर्ता आदि कारक ये कर्म करता है स्वर्ग फल भोगेगा फल है स्वर्ग सुख दुख आदि ये सब वो आरोप करता है जैसे राज्य में सर्प अर्पित है इसी प्रकार क्रियाकारक फलात्मक विज्ञानम विपरीतम अध्यस्य अध्यास राज्य में सर्प का भ्रम होता है अध्यास है अध्यसनम अध्यास कहेंगे तो ब्रह्म ज्ञान को अध्यास कहा जाता है इसको कहते ज्ञानाध्यास ज्ञान अध्यास च ज्ञानाध्यास ब्रह्म ज्ञान ही ज्ञानाध्यास है रज में सर्प ज्ञान और सर्प को भी कहीं अध्यास कहते हैं वहां कर्मणि घय करेंगे अध्यस्यते इति अध्यास अध्यास का विषय ब्रह्म ज्ञान के विषयों को भी अध्यास कहते हैं वह अर्थ है विषय है उसको कहते अर्थाध्यास अर्थस्य सो अध्यासस्य इति अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास वेद दो प्रकार हो गया रज्जु में सर्प ज्ञान है ज्ञानाध्यास और रज्जु में सर्प ज्ञान का विषय जो अनिर्वचनीय सर्प है वास्तव सर्प नहीं है सर्प भ्रम का जो विषय अनिर्वचनीय सर्प है उसको कहते अर्थाध्यास यहाँ क्रियाकार फलात्मकम विज्ञानम अध्यस्य कारक फलात्मकम विज्ञानम क्रियाकार का फल का ज्ञान है तो ज्ञानाध्यास और क्रियाकार का फलात्मक विषय हो तो अर्थाध्यास हो जाएगा दोनों को मिला करके क्रियाकार का फलात्मक विज्ञानम सर्पस्थानीय विपरीतम अध्यस्य क्रियाकार का फलात्मक विज्ञान वो विज्ञान वृत्ति ज्ञान है ज्ञान क्रियाकार का फल ज्ञान और उसका विषय दोनों लेकर के सर्पादि स्थानियम विपरीतम आरोप करके लोग तन्निमितम जन्म मरणादि दुखम अनुभवती अध्यास के कारण तन्निमित जन्म मरणादि दुख देहादि में हम बुद्धि करता है देह के जन्म मरण दुख आदि को अनुभव करता है वस्तु तो जो आत्मा है आरोप करने पर आरोपित वस्तु का आरोपित वस्तु उसके धर्म का संबंध अधिष्ठान में नहीं होता है मरुभूमि में जल आरोपित होने पर भी मरुभूमि में सुखी है इसी प्रकार आरोप करके सुख दुख अनुभव करता है न तो आत्मा सर्वलोक आत्मा भी सन सारे लोक जीव का सर्वभूत अंतरात्मा सब के आत्मा होने पर भी उसके साथ आरोपित धर्म का संबंध ले मात्र भी नहीं है विपरीत अध्यारोप निमित्त न न लिप्यते विपरीत अध्यारोप आरोप होता है रज में जैसे सर्प मरुभूमि में जल इस आत्मा में संसार जन्म मरण आदि विपरीत अध्यारोप निमित्तेन अध्यारोप का निमित्त अध्यारोप निमित्त किसी सुख दुख आदि का के साथ न संबंध होता है न अध्यारोप के साथ अध्यारोप का कारण कर्म अध्यारोप का फल अध्यारोप निमित्तेन लोक दुखेन अध्यारोप निमित्तम यस्य दुख का दुख का निमित्त है आरोप अध्यास आरोप का दुख का आरोप करने से दुख होता है और दुख का कारण कर्म भी होता है किसी के साथ संबंध नहीं होता है लोक दुख है ना आत्मा न लिप्यते आत्मा दुख से लिप्त नहीं होता है क्योंकि दुख तो अध्यारोप के कारण होता है विपरीत अध्यारोप निमित्त का दुख से लिप्त नहीं होता अधिष्ठान शुद्ध है कुत बाह्य अधिष्ठान अध्यस्त से भिन्न है अध्यस्त नहीं रहने पर भी अधिष्ठान रहने से अधिष्ठान भिन्न है सर्प नहीं होने पर भी रज्जु रहती है भ्रांति से सर्प दिखता है रज्जु ज्ञान होने पर रज्जु तो रहेगी सर्प नहीं दे रहेगा तो सर्प से भिन्न है रज्जु वो बाह्य हुआ तो सर्प के गुण दोष कुछ अधिष्ठान रज्जु के साथ संबद्ध नहीं होते हैं मरुह में जल अर्पित तो उसका जल का धर्म मरुह में संबद्ध नहीं होता है मरुह में जैसे कोई चाहिए रज्जु आदि वदेव विपरीत बुद्धि अध्यास वायो ही स इति स आत्मा जो सर्वलोक का आत्मा है व्यापक शुद्ध आत्मा रज्जु के समान जैसे रज्जु मरुभूमि अध्यस्त से भिन्न है विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्य विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्य विपरीत बुद्धि से अध्यास ब्रह्म होता है विपरीत बुद्धि रूप अध्यास कहेंगे तो ज्ञान अध्यास विपरीत बुद्धि का विषय अध्यास करेंगे उसे बाह्य है ब्रह्म ज्ञान से भिन्न है ब्रह्म से विषय भिन्न है अधिष्ठान शुद्ध चिन्ह चिन्ह मात्र उसके साथ अध्यस्त धर्म का कोई संबंध नहीं है इसलिए सुख दुख आदि जो अनुभव होता है आरोप के कारण भ्रांति से जीव अंतकरण के धर्म को आरोप करता है चिदाभास में उसको आत्मा मान करके मैं सुखी दुखी कहता है चेतन आत्मा सर्वव्यापक है उसके साथ अध्यस्त धर्म का कोई संबंध नहीं है रज में सर्प देखे मरुभ में जल देखे जल तरंग बुद्ध बुद्ध बहु देखे तो भी मरुभ में सुखी है इसी प्रकार आत्मा असंग है उसके साथ आरोपित धर्म का कोई संबंध नहीं में तो असंग नहीं में वास्तव में जल के साथ संबंध होने वाला है तो भी आरोपित धर्म का संबंध नहीं होता आरोपित जल का संबंध मरुभूमि में नहीं है और आत्मा असंग है उसके साथ कोई संबंध हो ही नहीं सकता है और बाकी सब आरोपित है भेद भी आरोपित है सुख दुख भी आरोपित है जन्म मरण आदि भी आरोपित है सब अज्ञान के कारण देहादि में सत्य तो बुद्धि और उसमें सुख दुख अंतकरण में आत्म तो बुद्धि ये सब होकर के सब भ्रांति से ही होता है व्यवहार पारमार्थिक आत्मा में सुख दुख जन्म मरण कुछ है ही नहीं उसी को ही जानना है अपना स्वरूप प्रतिबिंब अनेक है किंतु बिंब एक है वही बिंब रूप में हूं ऐसे ज्ञान होना चाहिए चिदावास में हम बुद्धि करके देहादि के साथ संबद्ध करके सुखी दुखी होता है ठीक है मैं ठीक है हो गई तेन बाकी सर्पेण भ्रमा विषयत्वम विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्यत्वम रज्वादि नाम रज्वादि स्वरूपण भ्रम का विषय नहीं रज्वादि रज्जु रूप से रज्जु यदि ज्ञान हो गया तो भ्रम नहीं है विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्यत्वम विपरीत बुद्धि अध्यास का विषय होता है सर्पादि रज्वादि नहीं तथा चैतन्य से उपाधि स्वरूपेण अध्यास आश्रयते भी चैतन्य उपाधि स्वरूपेण अध्यास का आश्रय होगा उपहित रूप से स्वरूप स्वरूपता नहीं है निरुपाधिक बिंब ब्रह्म रूपेण निरुपाधिक बिंब के समान ब्रह्म शुद्ध चैतन्य उसमें अध्यास का आश्रय नहीं है अध्यास अनाश्रय तो अध्यास का आश्रय नहीं है अध्यास का आश्रय तो सोपाधिक आत्मा चिदाभास में से अध्यास होता है शुद्ध चेतन अध्यास का आश्रय नहीं निरुपाधिक बिंब रूपे न दुखित्व प्राप्ति इसमें दुखित्व दुख संबंध संभव नहीं है परोत्कर्ष दर्शनम पारतंत्र्यम च स्वस्य हीनत्वम दुख कारण प्रसिद्धम तदभावत न परमात्म दुखी तत तत्ति पर पुरुषार्थ भविष्यति त्याह दुख का कारण क्या है परोत्कर्ष दर्शनम पारतंत्र्यम च स्वस्य दुख कारण जितने भी हो दुखी होता है अज्ञान जब तक है अज्ञान होने से क्या भेद बुद्धि पहले होती भेद बुद्धि होकर के अपने से भिन्न पर में कुछ उत्कर्ष दिखा पर में उत्कर्ष तो अपने क्या बिगड़ गया अपने कम हो गए छोटा हो गए छोटा नहीं होगा <laughs> यही तुलनात्मक है छोटा बड़ा शब्द का अर्थ छोटा किसको कहें बड़ा किसको कहेंगे इतने बड़ा है छोटा है बड़ा बताओ इतने में बड़ा है छोटा है बड़ा है हैं दोनों <laughs> हाँ, आंवला हो तो बड़ा है ना, नारियल हो तो छोटा है इतने नारियल का छोटा है इसी प्रकार कोई व्यक्ति अपने से बड़ा हो गया तो अपने छोटा हो गया <laughs> उसके अपेक्षा छोटा है इसलिए पर उत्कर्ष परम उत्कर्ष दर्शन होने पर दुख बड़े दुख जैसे अपना कुछ कम हो गया और पारतंत्रम च परतंत्र स्वभाव पारतंत्रम दूसरे अधीन रहेगा तो ये दुख कारण स्वस्थ हीनत्वम अपने में हीनत्व आ गया उसमें उत्कर्ष अपन निकृष्ट हो गया और परतंत्र कुछ के अधीन है स्वातंत्र सब का अच्छा लगता है स्वतंत्र होना है किंतु जो स्वातंत्र वास्तव में उसको नहीं समझ करके विपरीत मार्ग में चलते हैं स्वातंत्र तो होता है जब आत्म साक्षात्कार हो जाए आत्मा स्वतंत्र है कोई परतंत्र नहीं दूसरा कोई ही नहीं दूसरे से निकृष्ट नहीं ना अपने से कोई उत्कर्ष है कुछ नहीं आनंद है उसको नहीं समझ करके उसको प्राप्त करने के लिए तो कहीं ही जा करके समर्पित होकर के रहने से ही आचार्य के अधीन गुरु के अधीन रहने पर ही सन्मार्ग में चलने पर ही ज्ञान प्राप्त होगा किंतु उसके पहले स्वातंत्र होना चाहते किस लिए मन में जैसा आता हम करेंगे क्योंकि इसको मानेंगे ये जो स्वातंत्र का साधन लेते हैं ना ये स्वतंत्र नहीं मन के परतंत्र मन के परतंत्र होकर के कोई स्वातंत्र को प्राप्त करेगा मन को वश करके अपने अधीन करके मन के अधीन होकर के कोई स्वातंत्र प्राप्त नहीं कर सकता है मन को अपने अधीन बनाना ये शास्त्र सकल शास्त्र का सिद्धांत है ये इतने समझने के बाद ही मन के अनुसार चलना दूसरी बात क्यों मानेंगे जब ये भावना आ जाती है आगे स्वातंत्र प्राप्त क्या करेगा मन के परतंत्र तो अनादिकाल से भाग रहा है मन के अधीन होकर भटक रहा है इसलिए मन के अधीन नहीं होना चाहिए स्वातंत्र होना के लिए तो स्वयं प्रधान जिसमें बस और उससे अतिरिक्त कोई नहीं हो तब आनंद है वो अतिरिक्त कोई है तो कहीं ना कहीं कुछ उत्कर्ष दिख गया बस निकृष्ट हो जाएगा परोत्कर्ष दर्शनम दुख कारणम पारतंत्र भी दुख कारण ससहीनत्वम अपने ही निकृष्ट हो गया पर उत्कर्ष तो ये प्रसिद्ध है आ परमात्मा में दुख नहीं क्यों तद अभावात न परमात्मा दुखी परमात्मा में परमात्मा से भिन्न क्या पदार्थ मालूम है कुछ ही भिन्न नहीं उत्कर्ष फिर कहाँ आएगा अरे परमात्मा ही न किसे होगा दोनों नहीं परमात्मा दुखी नहीं ततस्तत प्राप्ति पर पुरुषार्थ इसलिए जो स्वतंत्र होना चाहता है परम पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी ऐसे ऊपर ध्यान करते ऊपर से परमात्मा आ जाएंगे या अपने को ऊपर ले लेंगे परमात्मा की प्राप्ति है ज्ञान ही प्राप्ति है भिन्न वस्तु की प्राप्ति हो तो कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा परमात्मा एक ही परमात्मा सबका वास्तव स्वरूप है और नित्य प्राप्त है नित्य प्राप्त क्योंकि स्वरूप है नित्य प्राप्त है और अप्राप्ति भ्रम की निवृत्ति करने के लिए ही प्रयत्न करना है ज्ञान होने से भ्रम नष्ट हो गया तो नित्य प्राप्त है परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान से कहते शास्त्र शास्त्र में प्रसिद्ध है ज्ञान से प्राप्ति का अर्थ वो अप्राप्त नहीं है अप्राप्त वस्तु को देख लेने मात्र से वस्तु की प्राप्ति हो जाती है नहीं यदि प्राप्त है तो ज्ञान से प्राप्त हो गया अप्राप्त है देखने के बाद फिर प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा सामने रखा गया भूख लगती भोजन सामने है देख लिया भोजन को चुदा निवृत्ति हो जाती है ना फिर उसको लेकर उठाकर खाना पड़ेगा सामने भोजन है भूख लगती है उसको लेकर खाओ और दांत में दर्द है दांत नहीं तो चबा नहीं सकता है <laughs> नारियल सामने रखा गया तो प्रयास करना पड़ेगा प्राप्ति के लिए पेट में जाने के लिए चबा कर खाना पड़ेगा तब क्षुधा निवृत्ति होती है और जो सपने में देखते हैं कि मैं भूखा हूँ और जग गया सामान्य भोजन है तो खाना पड़ता है भोजन कर सोया जगते कि दारिच्युधा निवृत्ति हो गई माला गले में जान लिया तो प्राप्त हो गई परमात्मा की प्राप्ति है ही परम पुरुषार्थ ये भविष्यति यही है परमात्मा का साक्षात्कार हो जाना ही प्राप्ति है वही परम पुरुषार्थ तो परमात्मा साक्षात्कार हो गया तो पारतंत्र है ही नहीं स्वतंत्र ही है आनंद रूप है दुख का अत्यंत अभाव है किंच एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधाय करोति तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् एको वशी सर्वभूतांतरात्मा सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा एके भिन्न भिन्न नहीं है वशी शव को वश में रखने वाला वो किसके अधीन नहीं है सारे जगत उसके वश में है अधिष्ठान के अधीन अध्यस्त पदार्थ है जैसे रज्जु में सर्प दिखता है वो रज्जु के अधीन है रज्जु जब तक है तब तो सर्प दिखेगा रज्जु घटा तो सर्प नहीं दिखेगा रज्जु के अधीन है अध्यस्त वस्तु के अधिष्ठान नहीं है रज्जु ज्ञान होने पर सर्प नहीं रहेगा सर्प नहीं रहेगा तो रज्जु रहेगी सर्प नहीं रहने पर रज्जु रहती अधीन अधीन नहीं है किंतु रज्जु के बिना सर्प दिखे नहीं नहीं दिखे तो रज्जु सर्प के अधीन हुआ या सर्प रज्जु के अधीन अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान के अधीन अधिष्ठान किसके अधीन नहीं है एक वशी परमात्मा सबका अपने अधीन में अधिष्ठान के अधीन सारे सब है एकम रूपम बहुदाय करोति एक ही रूप है अनेक प्रकार नाम रूप उपाधि के कारण अनेक प्रकार करता माया से वास्तव नहीं करता है तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा जो धीर उसको साक्षात्कार करेंगे तो करते हैं धीरा अनुपश्यन्ति पश्यन्ति के साथ अनु उपसर्ग दिया अनुपश्चात साक्षात्कार होता है आचार्य गुरु वाक्य से ही शास्त्राचार्य उपदेश के बिना ज्ञान नहीं इसलिए अनुपश्यंती शास्त्राचार्य उपदेशाम अनु उपदेश के पश्चात साक्षात्कार करते हैं परमात्मा को जो सर्वभूत अंतरात्मा है उसको साक्षात्कार करते हैं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा साक्षात्कार करने के लिए तम आत्मस्थम आत्म आत्मनिष्ठतम आत्मस्थम आत्मा है अंतगण बुद्धि में स्थित है बुद्धि में स्थित है ये तो सर्वव्यापक सर्वत्र किंतु बुद्धि में विशेष अभिव्यक्त होते हैं जब साक्षात्कार हुआ वे बुद्धि में ही साक्षात्कार होता है बाहर ढूंढता है बहुत भटकता है बहुत अंत में साक्षात्कार होता है जब बाहर भटकना बंद करके शांत होकर बैठे अंदर बुद्धि में ही साक्षात्कार होता है तीर्थाटन आदि करने से अंतकोण शुद्ध होता है बाहर घूमता है ठीक है अंतकोण शुद्ध होता है तीर्थाटन करने से वैराग्य होता है वैराग्य होने पर फिर जिज्ञासा होने पर भी आचार्य के समीप जाता है वेदांत श्रवण करता है तब समता है परमात्मा अंतरात्मा है सब के अंदर है तब वही साक्षात्कार होता है अहम अस्मि परम ब्रह्म आत्मस्थम आत्मनि बुद्धो स्थितम स्थित क्या वहाँ विशेष अभिव्यक्ति होती है जहाँ-जहाँ अग्नि है सर्वत अभिव्यक्त हो जाए तो ब्रह्मांड रहेगा अग्नि से तो प्रकट हो जाए तो सबको जला कर राख बना दे अभिव्यक्त नहीं होती है अभिव्यक्त ये दीवार में पत्थर में पिटो तो अग्नि की अभिव्यक्ति होती है काष्ठ का घर्षण करने से अग्निव्यक्ति होती है इसी प्रकार आत्मा तो सर्वव्यापक सर्वत्र है किंतु उसकी विशेष अभिव्यक्ति बुद्धि में होने से बुद्धि में स्थित कहते हृदय से अर्जुन तिष्ठति आत्मस्थम आत्मसदगात अंतगण बुद्धि बुद्धि में स्थित ये धीर अनुपश्यन्ति धीर विवेकी धीरज प्रवाह से बह जाते हो नहीं प्रवाह में बह जाना कोई बड़ापन नहीं है संसार में बहते हैं पशु पक्षी भी ऐसे खाबे कर मरते मनुष्य भी ऐसे करके मर जाएगा पशु पक्षी के समान वो नहीं धीर होता है प्रवाह में नहीं बह करके समझ करके विपरीत मार्ग संसार का जो प्रवाह उसे विपरीत इंद्र बाहर दौड़ती है मन भागता है धीर होता है उसका विपरीत विषय से इंद्र को हटाता है मन भागता है तो मन को अध्ययन करना चाहता है जो अत्यंत मूढ़ है मन के विषय भागता है सामने है लड्डू उसको छोड़ करके भाग जाता है बाद में कहीं कुछ गिरा हुआ उसको उठा कर खाता है मीठा लगता है और जो धीर है वो विपरीत मन के पीछे नहीं इंद्रियों के पीछे नहीं उसको विपरीत मार्ग में लगाता है वही धीरता है धैर्य धैर्य है तो धीर से भाव धैर्य धैर्य हो लगातार लगना पड़ेगा इसी मार्ग में चलना ही पड़ेगा अत्यंत श्रद्धा हो अंतकोण शुद्ध होने पर शास्त्र में गुरु वाक्य में श्रद्धा अत्यधिक होती है और श्रद्धा बड़ी साधन है सा श्रद्धा कथिता सद्भिर यया वस्तु थे शास्त्र से गुरु वाक्य से सत्य बुद्धि अवधारणा तो श्रद्धा होने पर निरंतर लागे लगता है मनन करेगा साक्षात्कार करेगा श्रद्धा के कारण ही श्रवण के बाद मनन करने के लिए अत्यधिक श्रद्धा तो श्रद्धा पूर्वक निरंतर लक्ष्य प्राप्ति तक लगना पड़ता है तभी धीरत्व है वह आया अनिर्विण चेतसा वैराग्य संसार से विषयों से तो होना चाहिए किंतु वैराग्य ज्यादा हो जाता है साधन से साधन क्या इतने दिन क्या है क्या होगा कब तक करते रहेंगे हो गया छोड़ो <clears throat> अन्य चीज से संसार से वैराग्य नहीं श्रवण कर लिया हो गया और कितने करना है ध्यान भी हो गया और क्या करना है ये सब वैराग्य होने से नहीं धीरे है प्राप्ति होने तक लगना ही तब प्राप्त करते हैं तेषां सुखम शाश्वतम नेतरसाम ऐसा जो धीर लग करके साक्षात्कार करते हैं उनकी शाश्वत नित्य सुख प्राप्त होता है इतरे साम न इधर-उधर दौड़े भागने से शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं विशेष सुख तो थोड़े मिल जाता है वो भी विशेष सुख कितने मिलेगा जितने आपके प्रारब्ध में इतने मिलेगा भागने से कोई अधिक सुख मिल जाएगा जरूरी नहीं है बहुत लोग सब सोते हैं अद्वितीय कथाकार बन जाएंगे प्रयास करते बड़ा रट करके बोलना शुरू करते कितने लोग अद्वितीय होंगे एक साथ एक साथ अद्वितीय वक्ता कितने बनेंगे हजारों व्यक्ति चाहेंगे हम अद्वितीय बन जाए कभी कोई थोड़ा हो जाता है कुछ दिन में फिर गिर पड़ता है प्रसिद्ध हो जाने मात्र से बड़ा हो गया नहीं बहुत बड़े प्रसिद्ध हो बाद में पता चला कहाँ गाड़े में गिरा ये कुछ नहीं है वो प्रसिद्धि से कोई मतलब नहीं है सुख मान सम्मान धन संपत्ति के पीछे भागते हैं वो भी मिलेगा इतने जितने प्रारब्ध में है अधिक नहीं हो सकता है इसलिए उसमें से उसको छोड़ करके लगना पड़ता है उनको शाश्वत शांति प्राप्ति नहीं होती है शाश्वत शांति तो बाहर प्रवृत्ति को छोड़ करके लगातार लगे रहे वही करना है और कुछ नहीं तभी साक्षात्कार होगा तो नित्य शांति की प्राप्ति हो जो न इतरेशा इतर अन्य जो बाह्य विषय में जिनकी बुद्धि आसक्त है बाह्य विषय से खींचे जाते हैं बाह्य विषय में खींचने से श्रेष्ठ साधन को छोड़ कर भागना पड़ता है भागते हैं बहुत दिखे जाते हैं श्रेष्ठ साधन को जानते सुनते तो भी बाह्य विषय में आसक्त होता तो छोड़कर भाग जाना पड़ता है इसलिए धैर्य पूर्वक ये परमहंस मार्ग है परमहंस चिर विवेक करने वाला हंस ये क्षीर निर्णय आत्मा अनात्म विवेक करना है सत्य मिथ्या विवेक करना है सत असत विवेक करके सन्मार्ग में ही चलते रहना ये धैर्य है धीरता सही परमाश्य में सही परमेश्वर सर्वगत स्वतंत्र एको न त सम अभ्यधिको वा अन्योस्ति वही परमेश्वर सर्वगत है स ही प्रसिद्ध है श्रुति प्रसिद्ध है परमेश्वर सर्वगत आकाशवत सर्वगतस्य नित्य व्यापक है स्वतंत्र हुई परमात्मा ही है एको न त सम अभ्यधिको वा अस्थि उसके समान भी कोई दूसरा नहीं अधिक कहाँ होगा न समान न अधिक कोई है वही वसी है वसो वसी अस्ति वसी वसी सर्वमें अस्य जगत वसे वर्तते सारे जगत उसके अधीन है कुतः क्योंकि सर्वभूता अंतरात्मा एक वसी सर्वभूता अंतरात्मा सारे भूत अंतरात्मा है यत एकमेव सद एकमेव सदैक रसम आत्मानम विशुद्ध विज्ञान रूपम नाम रूपादि अशुद्ध उपाधि भेदवसेन बहुधा अनेक प्रकार यह करोति स्वात्म सत्ता मात्रेण अचिंत्य शक्तित्वात् यत एकमेव स एकमेव एकम रूपम एक रूप है सदा एक रसम एक स्वरूप है आत्मा है आत्मान क्या रस है क्या स्वरूप है विशुद्ध विज्ञान रूपम आत्मा का स्वरूप है ज्ञान स्वरूप विज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप में घट ज्ञान पट ज्ञान होता है ज्ञान स्वरूप को तो सम विचार करना आत्मा कैसा है घट ज्ञान जैसे पट ज्ञान जैसे रूप ज्ञान जैसे रस ज्ञान जैसे घट देखते थे घट ज्ञान हुआ तुरंत नष्ट हो गया ऐसे आत्मा को तो अनित्य हो जाएगा इसलिए कहते केवल ज्ञान है विशुद्ध विज्ञान ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान आदि जितने है ये सविषय का ज्ञान विषय विशिष्ट ज्ञान विषय से युक्त होकर के विषय विशिष्ट ज्ञान शुद्ध नहीं है विषयाकार ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान विषय विशिष्ट होता है और विषय रहने पर विषय नहीं तो ज्ञान नहीं होगा स्मरण करता है विषय प्राप्त नहीं होता दुखी होता है तदाकार वृत्ति जब तो है तो ज्ञान है वृत्ति नष्ट हो गई तो ज्ञान नष्ट हो गया विषय होने से विषयाकार अंतकरण की वृत्ति है वो अनित्य ज्ञान है वास्तव वो ज्ञान नहीं है वो तो ज्ञान तो उपचार गौण प्रयोग किया जाता है वृत्ति में विषय से विषय संबंध रहित निर्विशेष ज्ञान है विशुद्ध ज्ञान ज्ञान दो प्रकार के शुद्ध नित्य ज्ञान और के वृत्ति ज्ञान वृत्ति ज्ञान की उत्पत्ति नाश घट ज्ञान पट ज्ञान किंतु जिस ज्ञान रूप चेतन के संबंध से वृत्ति जड़ वृत्ति में प्रकाशकत्व तो आ जाता है वही ज्ञान एक है सब में सब वृत्ति में अनुगत अनुसूत है प्रतिबोध विदितमतम बोधम बोधम प्रति प्रतिबोध विदितम प्रत्येक ज्ञान में साक्षी रूप से स्वयं प्रकाश रूप से अनुगत है जिस प्रकार घट घटाकाश मठाकाश मठ आदि उपाधि के परामर्श से ही आकाश का भेद व्यवहार होता है मठ आदि उपाधि के परामर्श नहीं करेंगे तो आकाश में भेद व्यवहार नहीं होगा इसी प्रकार घटपट आदि विषय को ले करके ही ज्ञान में भेद व्यवहार करते घट ज्ञान पट ज्ञान विषय को छोड़ दें तो ज्ञान में भेद सीधा नहीं होगा जिस विषय से युक्त होकर के ज्ञान कलुषित हो जाता है विषय विशिष्ट करके वास्तव शुद्ध ज्ञान तो कलुषित नहीं है विषय विशिष्ट करके हम मिला करके देखते हैं विषय को छोड़ देंगे शुद्ध जो ज्ञान है वो शुद्ध विशुद्ध विज्ञान रूप वही आत्मा का स्वरूप है चेतन रूप ज्ञान रूप है कोई विषय नहीं है ब्रह्म ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म ज्ञान रूप जो ब्रह्म है उसका विषय क्या है विषय क्या है वो निर्विषय ज्ञान है कोई विषय नहीं है विषय वाला होगा तो अनित्य हो जाएगा निर्विषय ज्ञान वो ज्ञान स्वरूप है आत्मा है नाम रूपादि अशुद्ध उपाधि भेद वसन बहुधाने के प्रकार यह करोति एक ही ज्ञान स्वरूप एकम रूपम यह बहुधा करोति बहुत प्रकार कर देता है बहुत प्रकार कैसे करेगा वास्तव बहुत प्रकार नहीं कर सकता है नाम रूपादि अशुद्ध उपाधि भेद वसन जैसे एक ही आकाश घट अनेक से घटाकाश मठाकाश करकाकाश गुहाकाश कितने बना देते हैं कल्पना कर लेते व्यवहार होता है किंतु वस्तुतः तो भेद आकाश का नहीं होता है इसी प्रकार नाम रूपादि अशुद्ध उपाधि भेद नाम रूप कर्मादि अशुद्ध देह आदि वो अशुद्ध उपाधि देह इंद्रिय आदि के अंतकरण रूप उपाधि भेद के कारण अंतकरण आदि उपाधि भेद से देह भेद से उसको बहुत कर दे बहुधा यह करोति अनेक प्रकार कर देता है उपाधि के कारण एक ही बिंब दर्पण बहुत रह करके अनेक बिंब बना दिया मुख प्रतिबिंब अनेक हो जाता है एक ही चंद्र आकाश में बहुत घड़ा में जल रख दिया अनेक चंद्र बना दिया अनेक चंद्र वास्तव नहीं है उपाधि के कारण ही दिखता है इसी प्रकार यहाँ भी उपाधि भेद के कारण बहुत प्रकार अनेक प्रकार कर देता है अनेक प्रकार कैसे करता है स्वात्म सत्ता मात्रेण ब्रह्म निष्क्रिय है निष्क्रिय ब्रह्म के अनेक करेगा ब्रह्म निष्क्रिय और जगत बना देता है जगत बनाएगा तो निष्क्रिय कैसे होगा निष्क्रिय तो जगत बनाएगा कैसा स्वात्म सत्ता मात्रेण सत्ता मात्रेण अनेक बहुत कर देता है सत्ता मात्र से बहुत कैसे करे कुछ नहीं करके निष्क्रिय रहते हुए सत्ता मात्र से ही जगत बना दिया ये सारे ब्रह्मांड जो दिखता है ब्रह्म ने बनाया परमात्मा ने जो परमात्मा निष्क्रिय निष्क्रिय परमात्मा शुद्ध केवल ज्ञान रूप है वही जितने बड़ी जगत कैसे बना दिया जगत कार्य दिखता है तो उसका कारण मानना पड़ेगा परमात्मा ने जगत बनाया तो परमात्मा में शक्ति है ये माननी पड़ेगी शक्ति के बिना कार्य कैसे होगा शक्ति कैसी शक्ति है और कहाँ से आई शक्ति किस प्रकार है कि अचिंत्य शक्ति शक्तित्वात् तो तो अचिंत्या है परमात्मा की जो शक्ति है अचिंत्या है चिंतन का विषय नहीं है निर्णय नहीं कर सकते वही शक्ति को माया शब्द से कहते हैं शास्त्र में शक्ति है क्या शक्ति है ब्रह्म से भिन्न है अथवा अभिन्न है तो अचिंत्या इसलिए कह दिया भिन्न अभिन्न चिंता करो निर्णय नहीं होगा भिन्न भी नहीं अभिन्न भी नहीं मिला हुआ भी नहीं शक्ति सत है असत है या उभय शक्ति सत भी नहीं असत भी नहीं उभय भी नहीं तो फिर क्या कहेंगे क्या अचिंत्य समझ समझो नहीं तो अनिर्वचन समझ लो अनिर्वचन का अर्थ सत नहीं असत नहीं उभय नहीं वास्तव है ना नहीं शक्ति वास्तव नहीं सत नहीं तो वास्तव नहीं तो वास्तव नहीं तो बंध्या पुत्र जैसे होगा सत असत वो भी नहीं असत बंध्या पुत्र युद्ध कर सकता है क्या क्या कर सकता है बंध्या पुत्र चल भी सकता है कुछ भी नहीं कर सकता है शक्ति असत हो ये जगत कैसे बनेगा इसलिए जो शक्ति है अचिंत्य अनिर्वचनीय वो कब से कहाँ से आई पूछे माया कहाँ से आ गई आई कहाँ से कब से अनादि कहते और वास्तव हो तो कहाँ से आई विचार करेंगे जो वास्तव नहीं उसको कहाँ से आई क्या रज्जु में सर्प दिखता है बच्चा पूछता है सर्प कहाँ से आया दरवाजा सब बंद है सर्प कहाँ से आया कहाँ से आया सर्प बताओ दरवाजा बंद है तो ऊपर से गिरा या नीचे से निकला विचार करो बोलो <laughs> सर्प आएगा कहाँ से वास्तव तो होता आएगा इसलिए माया को कहते अनादि उसकी उत्पत्ति हुई नहीं अनादि अनादि का क्या अर्थ क्या है जिसकी आदि है ही नहीं जिसकी उत्पत्ति है ही नहीं उत्पत्ति भी नहीं है वास्तव हो तो उत्पत्ति आदि विचार करेंगे कब से आया कहां से आया रास्ता कारण सब विचार करेंगे अनादि है आदि इसके नहीं अनिर्वचनीय अनादि काल से इसे शक्ति है और शक्ति स्वयं भी आरोपित है उसी शक्ति से ही जगत बना दिया परमात्मा माया से माया से बनाने का अर्थ वास्तव अनेक बनता नहीं है यह यह नानेव पश्यति मृत्यु से मृत्यु में आपनोति मरण से फिर मरण को प्राप्त करता है नाना इव पश्यति नाना है ही नहीं भ्रांति से होने के जैसे दिखता है उसका ज्ञान कैसे होगा तम आत्मस्तम स शरीर हृदय आकाश से बुद्धो स्थितम आत्मा है बुद्धि अपने शरीर में हृदय आकाश हृदय में बुद्धि है चैतन्य कारण अभिव्यक्तम वहां स्थित है वहां स्थित मतलब कैसे वहां अभिव्यक्त है चेतन रूप से चैतन्य आकारण अभिव्यक्तम वही चैत चिद रूप से अभिव्यक्त होते बुद्धि में जैसे वन्य की अभिव्यक्ति कहीं होती है सर्वत्र नहीं है इसी प्रकार यहाँ हृदय में उसकी अभिव्यक्ति होती है प्राकट्य प्रकट चित चिदाभास उत्पन्न होता है वो चेतन लगता है उसी के कारण बुद्धि में चिदाभास दिखने से बुद्धि को ही आत्मा को ही मान लेते हैं ज़्यादातर सामान्य विचार नहीं करने वाले कहते जो हम निश्चय करते तो वही है बुद्धि को आत्मा कहते चिदाभास को आत्मा मान करके सारे सब जो है चिदाभास को आत्मा मान करके भेद बुद्धि करके भ्रांत है यदि समझ ले बिंब रूप चेतन अपना स्वरूप है बिंब रूप चेतन सब के अंदर बाहर एक है प्रतिबिंब किंतु नाना है प्रतिबिंब भेद को देख करके सत्य मान करके अपने के प्रतिबिंब को मैं मान लिया बाकी अलग प्रतिबिंब को सब अलग-अलग नाम रख दिया चैत्र मैत्र मनुष्य पशु पक्षी आदि सब अलग जो अलग-अलग दिखते हो क्या है चिदाभास प्रतिबिंब ना तो अपने भी प्रतिबिंब ना दूसरा कोई प्रतिबिंब है बिंब रूप सत्य झूठे आने के दे करके जड़ चेतन कल्पना करते हैं ये चेतन रूप से अभिव्यक्त होता है बुद्धि में उसको ही साक्षात्कार करना नहीं शरीर से आधारतम आत्मा न आत्मस्थम आत्मा में स्थित देह में स्थित देह में स्थित में देह में आश्रित होगा शरीर आधार नहीं होगा आत्मा का आधार क्यों नहीं होगा आकाशवद अमृतत्वात् आकाश का आधार देह बनेगा या छात बनेगा भूतल बनेगा आकाश मूर्त नहीं अमृत उसका कोई आधार नहीं है मूर्त वस्तु तो आधार होगा सर्वगत नित्य है आकाश तार्किक लोकत नित्य उसका भी कोई आधार नहीं है आकाश के समान अमृत होने के कारण आत्मा का कोई आधार नहीं है तो फिर देह में आत्मा देह में आत्मा हृदय में आत्मा ये कैसे कहते हैं बुद्धि में आत्मा है देह में आत्मा आत्मा जो कहते जैसे कह दर्पण में मुख देखो दर्पण में मुख दिखते मुख है मुख दर्पण में रहता है ना देखते समय प्रतिबिंब रहता है उसको मुख शब्द से कह देते हैं है ही नहीं दर्पण में जहाँ के मुख गिरवा कंठ में हुई है सामान्य दर्पण रखेंगे तो दिखता दर्पण में मुख आदर्शस्थम मुखम इति यद्वद मुखम आदर्शस्थम आदर्श दर्पण आदर्श तिष्ठति इति आदर्श आदर्शस्थम मुखम मुख दर्पण में स्थित है कहते हैं जल में चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है तो कहते जल में चंद्र दिखे जल में चंद्र है इसी प्रकार है शरीर में बुद्धि में आत्मा है बुद्धि अथवा शरीर आत्मा का आधार नहीं है वहां दिखता है इसलिए वहां है कहते हैं वहां अभिव्यक्त होता है तम एतम ईश्वरम आत्मान ये अनुपश्यन्ति ये अनुपश्यन्ति वही ईश्वर है वही आत्मा है जो सर्वभूतों का आत्मा है वही स्वयं आत्मा है अपना स्वरूप है ये अनुपश्यन्ति जो साक्षात्कार करेंगे कौन साक्षात्कार करेंगे निवृत्त बाह्य वृत्तयो हो निवृतः बाह्य वृत है शाम बाह्य विषय में वृत्ति अंतकण की वृत्ति परिणाम बाह्य विषय का चिंतन बाह्य विषय आत्मा से भिन्न को बाह्य शब्द से कहा रूप प्रसाद का चिंतन वृत्ति कर व्यवहार करते हैं तब तक संसार में भटकते हैं जब धीर हुआ से हट करके बाह्य वृत्ति को रोक करके अपने स्वरूप चिंतन करें निवृतः बाह्य ये शाम बाह्य चिंतन छोड़ने पर ही योग अनुष्ठान करने पर आत्मसंस्तमन कृत्वा न किंचित चिंत बाह्य वृत्ति को निवृत्त करके आत्माकार ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह करते हैं कैसे करेंगे अनुपश्यन्ति आचार्य आगम उपदेशम अनुसाख्याद अनुभवन्ति अनु का पश्चात आचार्य आगम उपदेश के बाद आचार्य उपदेश आगम उपदेश से ही आगम का उपदेश होगा आचार्य मुख से उसके पश्चात ज्ञान होगा उसके बिना नहीं हो सकता है अनुपस्थिति का तो साक्षात अनुभवंती साक्षात अनुभव करते हैं वेदांत प्रमाणत है प्रमाण से आचार्य उपदेश करेंगे तत्व से आदि वो प्रमाण से केवल अज्ञान आवरण हट जाता है अज्ञान की निवृत्त होने से स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म स्वयं अनुभव रूपे साक्षात प्रमाण के बिना अनुभव करते हैं प्रमाण का व्यापार केवल अज्ञान निवृत्ति के लिए आत्मा है चिद रूप ब्रह्म दृग रूप चिद भाष्यत्वम चेतन के द्वारा प्रकाशित होंगे चिद भिन्न जड़ स्वयं चेतन ब्रह्म चिद भाष्य नहीं है इसलिए ब्रह्म अनुभव का विषय नहीं होता है स्वयं अनुभव है ज्ञान रूप है वृत्ति व्याप्ति उसे मानते फल व्याप्ति नहीं साक्षात अनुभव करते उपदेश के बाद ब्रह्म निवृत्त हो गया तो सममस्म परम ब्रह्म ब्रह्मात्मन अवस्थान हो जाना ही यही प्राप्ति है धीरा विवेक न तेषां परमेश्वर भूतानां शाश्वतम नित्यम सुखम आत्मानंद लक्षणम भवति नेतरेषां ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति ब्रह्म को जो साक्षात्कार कर लेता है स्वयं ब्रह्म स्वरूप है तेषां परमेश्वर भूतानां जो साक्षात्कार कर लेते हो परमेश्वर स्वरूप होगी हे ब्रह्मेश्वर से भिन्न है ही नहीं प्रतिबिंब को मैं मानकर बिंब मानकर बैठे ये समझ रहा तो ही बिंब रूप चेतन में हूँ अनेक प्रतिबिंब होने पर बिंब एक है सब का वास्तव स्वरूप वही है वही परमेश्वर भूत जो विवेकी ज्ञानी उनको शाश्वतम शांति नित्य सुख प्राप्त होता है नित्यम सुखम कैसा सुख है आत्मानंद लक्षणम आत्मानंद आत्मानंद आत्मा ही आनंद ये आनंद प्राप्त होता है ये नित्य सुख है विषयजन्य नहीं है जितने भी सुख विषयजन्य विशेष सापेक्ष हो जाएगा नित्य नहीं हो सकता है आत्मानंद तो निरति से नित्य उसे बढ़कर कोई नहीं है नित्य है केवल अज्ञान आवरण हट गया तो नित्य सुख आनंद को प्राप्त होता है वही प्राप्त करते ज्ञानी जो परमात्मा स्वरूप अभिन्न हो जाते हैं ने तरेशाम शाम न इतरेशाम अन्यों का बाह्यासक्त बुद्धि नाम अविवेकी नाम जो अविवेकी बाह्य में आसक्त बाह्यासक्ता बुद्धि बुद्ध येसाम बाह्य विषय में जिनकी बुद्धि आसक्त हुई विषय में वो साक्षात्कार नहीं कर सकते जो परब्रह्म है अज्ञानी का आत्मा है या नहीं अज्ञानी का आत्मा है ज्ञानी का दोनों का हैं अज्ञानी के आत्मा होंगे परमात्मा बोलो ज्ञानी के आत्मा है पर अज्ञानी का <laughs> तो ज्ञानी अज्ञानी में क्या भेद हुआ <laughs> जिनको ज्ञान है उनके आत्मा परमात्मा और जिनको साक्षात्कार हो गए उनका इनको मालूम है उनको मालूम नहीं यही भेद है मालूम होकर के आनंद उनको मालूम नहीं होकर दुखी है किसके पास धन संपत्ति बहुत है मालूम है वो आनंद से रहता है आ किसके घर में गाढ़ा खदगर के उनके दादा परदादा किसने रखा है उसको मालूम नहीं तो भूखा रहता है भीख मांगता है संपत्ति होने से क्या होगा इसी प्रकार है उनका भी आत्मा है अभिवेक नाम स्वात्म भूतमपि अभिवेकियों का भी आत्म स्वरूप है फिर भी व्यवधान है अविद्या व्यवधानात अविद्या से व्यवधान है अविद्या व्यवधान होने के कारण दुखी मानता है आत्मस्वरूप परमानंद स्वरूप होता हुआ अज्ञान के कारण अपने को दुखी मानता है करोड़ों करोड़ों रुपया संपत्ति सोने चांदी हीरे आदि रखा गया मिट्टी के अंदर गाले करके और वो है ही नहीं ऊपर रोता है भूख मांगता है खाने के लिए इसी प्रकार ये जो ज्ञान प्राप्त हो गया तो संपत्ति अन्न को खिलाएगा मांगेगा क्या इसी प्रकार आनंद स्वरूप है ज्ञान हो गया आवरण हट गया तो आनंद है और जब अज्ञान है तब तक शांति कैसे प्राप्त होगी आत्म स्वरूप होने पर भी अज्ञान आवरण से ढका गया अविद्या व्यवधानात इसलिए तेषां शांति तेषां सुखम शाश्वतम शाश्वत नित्य सुख इतर सामना इदानीं परमात्मनि उपपत्ति दर्शनार्थम आ परमात्मा है उसे युक्ति दिखाने के लिए यही है शास्त्र में श्रवण मनन दोनों कराती है श्रुति भाष्यादि टीका में भी श्रवण के साथ साथ मनन कैसे संभव है एक आत्मा स्पष्ट श्रुति तो है और विभिन्न युक्ति दे करके दृष्टांत दे करके बताते हैं परमात्मा में युक्ति दिखाने के लिए कहते किंच नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना मेको बहूना यो विददाति कामान तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरास् तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् नित्यो अनित्याना अनित्यानाम मते नित्य जितने पदार्थ सब अनित्य है उनमें से एक ही नित्य है आत्म तत्व चेतनश्चेतनानाम चेतन रूप से प्रसिद्ध है जितने जीव उनका भी ये चेतन है जिस चेतन के कारण ये सब चेतन जैसे दिखते हैं चेतना नाम चेतन वास्तव चेतन तो ये उसी जैसे पानी गर्म हो गया तेल गर्म हो गया दाह करने वाले वस्तु तो दाहकत्व तो अग्नि का धर्म है उसके संबंध से तैल घृत जल आदि भी दहन कर देती है इसी प्रकार यही चेतन वास्तव शुद्ध ब्रह्म है उसके संबंध से अन्य चेतन जैसे चिदाभास दिखते हैं चेतन तेन प्रसिद्ध जो जीव ब्रह्मादि आदि है सबका वास्तव चेतन है वो कितने है एको बहुनाव्य विदधाति कामान बहुत जीव को काम काम में फल देने वाला है अपने कर्म के अनुसार उनको फल मिलता है वही देते हैं परमात्मा फल मत उपपत्ते कर्म फल परमात्मा ही देता है वही दे सकता है वही जानता है क्या किसने कर्म किया किस समय दूसरे को तो ठग देंगे हमने नहीं किया दूसरे को झूठ बोल देंगे कि तो परमात्मा अंतर्यामी है जानते हैं किसने क्या किया और समय पर वो कर्म फल दे देगा उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं हमारे आपने उपार्जन किया उसको कोई नहीं लेगा अन्य संपत्ति जो चोर ले लेंगे जब प्राणी कर्म करता है पुण्य पाप कर्म इसको चोर लेंगे पाप तो नहीं लेंगे पुण्य ले लेंगे क्या नहीं ले सकते हैं कोई नहीं लेंगे वो परमात्मा उसकी रक्षा करते समय पर उसका फल दे देते हैं कितने कृपालु है देखो पाप कर्म करने वालों को क्या करेंगे भेज देंगे नरक जाओ कृपा नहीं कृपा करते फल भोग लो तुम्हारे तुम्हारे उपार्जित धन तुम ले लो परमात्मा कहते हम अपने पास नहीं रखते हैं दे देते हैं जो कर्म जिसने किया उसका फल समय पर देते थे रखते हैं बहुत दिन हो जाने पर भी समाप्त तो नहीं होगा निश्चित रहता है सुरक्षित रहता है नाभूतम क्षेत्र कर्म कल्प कोटि सतैरपि परमात्मा रखते समय पर दे देते हैं काम्य फल बहुधामी विदताति कामान उसको जो साक्षात्कार कर ले तम आत्मस्तम यह अनुपश्यंति धीरा वही बुद्धि में स्थित जो साक्षात्कार कर लेते हैं तेषा शांति शाश्वती नित्य शांति उनको प्राप्त होती है ऐसा न अन्य को प्राप्त नहीं होती है वही साक्षात्कार करना वही परम पुरुषार्थ है जो बुद्धि में स्थित है परमात्मा जो चेतन है वास्तव स्वरूप है चिदावास में अहम बुद्धि छोड़ करके बिंब रूप चेतन में हूं ऐसा निश्चय करे प्रतिबिंब है बिंब कोई होना चाहिए अन्य के चेतन दिखते हैं प्रतिबिंब चिदाभास तो कोई वास्तव चेतन बिंब है तो उनका प्रतिबिंब दिखता है प्रतिबिंब से बिंब का अनुमान निश्चय होता है और जो बुद्धि का साक्षी है वही आपका स्वरूप है वही आत्मा है जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों को जानने वाला आत्मा दृग रूप है उसके साक्षात्कार से ही नित्य शांति प्राप्त होती है इतर शान यही परम पुरुषाते अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहिए निरंतर प्रयत्न करके सहना सहनाववतु सहनौ भुनक्तु